और अगर इन लोगों का मुंह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है तो अगर तुम जमीन के अंदर जाने के लिए कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो तो उनके पास उनका मुंह मांगा ये मोज ले आओ और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर देता लिहाजा तुम नादानों में हरगिज शामिल ना होना